क्या हुआ बताओगी जिया का फोन अचानक से विक्रांत के पास आया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है विक्रांत विक्रांत मैं मैं कैसे बताऊं जिया कुछ कहने में झिझक सी रही थी वो आर्यन आर्यन का बच्चा उसने मुझे धोखा दिया है वो मेरे साथ चीट कर रहा था और वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड विनीता के साथ मिलकर ओह विक्रांत को तो ये बात पहले से ही पता चल चुकी थी लेकिन वो जिया को इस बारे में इसलिए कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि वो जिया की आंखों के सामने आर्यन की सच्चाई लाना चाहता था इस बीच वो थोड़ा बिजी हो गया वरना विक्रांत ने तो अपने ब्लांड गैंग को भेजकर आर्यन का इलाज करने का प्लान बना ही लिया था भला वो अपने पुराने प्यार को इस तरह दुख में कैसे देख सकता था अब जबकि जिया की भी अपने बॉयफ्रेंड की सारी सच्चाई जिया को भी अपने बॉयफ्रेंड की सारी सच्चाई पता लग चुकी है तो वो भला कैसे शांत रह सकता था विक्रांत कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसे ये जिज्ञासा हुई कि आखिर जिया को इस बारे में पता कैसे चला उसने जिया के पास पहुंचने से पहले ही फोन पर उससे सवाल किया लेकिन तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला मुझे मुझे नहीं पता था कुछ भी जिया ने रोते हुए कहा मुझे विनीता के हस्बैंड ने बताया उसने पहले इन दोनों को पकड़ा था उसी ने वीडियो बनाकर मेरे पास भेजा है कमीने को जरा सी भी शर्म नहीं आई वो वो शादीशुदा है फिर भी उसके साथ छी ओह तुम तुम चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ तुरंत आ रहा हूँ देखता हूँ उस कमीने को बिल्कुल परेशान मत हो विक्रांत ने जिया को सांत्वना देते हुए कहा अब तुम्हें पता लग गया है ना कि वो कितना कमीना है तो फिर उसके लिए रो क्यों रही हो मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रांत बहुत डर लग रहा है अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आर्यन मेरे साथ कभी ऐसा कर सकता है जिया ने रोते हुए कहा उस कमीने ने क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक करवा दिया है मैं यहाँ फंसी हुई हूँ मेरे पास खाने का बिल भरने का भी पैसा नहीं है प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है साला कमीना इसको तो मैं लाइन पे दे आऊंगा विक्रांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा हाँ प्लीज जल्दी आओ और आठ हजार रूपए भी ले आना तुम चिंता मत करो मैं एक एक पाई वापस कर दूंगी जिया ने रूंधी सी आवाज में कहा आठ हजार अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ तुरंत पैसे लेकर आ रहा हूँ तुम चिंता मत करो विक्रांत ने इतना कहते हुए फोन रख दिया आठ हजार आठ हजार का खाना खा लिया इसने अबे ऐसा क्या खा लिया इसने पूरे रिश्तेदार को लेकर पहुंची है क्या खाने के लिए विक्रांत मन ही मन सोचने लगा लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था विक्रांत फटाफट अपनी पुलिस कार में सवार हुआ और तेजी से जिया के बताए हुए बाइट्स रेस्टोरेंट्स की तरफ रवाना हो गया डीएन नगर पुलिस ब्रांच से इस रेस्टोरेंट की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर की थी विक्रांत तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ 10 मिनट के भीतर ही रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गया यहाँ विक्रांत किसी की मदद के लिए आया हुआ है तो भला ऐसे आसानी से सब कुछ कैसे हो सकता है रास्ते में ही उसके खुराफाती दिमाग को एक शरारत सूझी गई रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते ही विक्रांत ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से पुलिस कार का पावर ब्रेक दबा दिया कार का पहिया फिसलता हुआ रेस्टोरेंट के ठीक सामने आकर थम गया कार का दरवाजा खोला और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में विक्रांत जंप मारते हुए गाड़ी से बाहर निकला मजे की बात ये थी कि इस वक्त विक्रांत के हाथ में एक हथकड़ी लगी हुई थी और इसका दूसरा सिरा हवा में झूल रहा था विक्रांत रेस्टोरेंट के भीतर घुसा और सामने ही उसने देखा कि जिया एक टेबल पर अकेले ही बैठी हुई थी जिया को देखते ही सुपरस्टार विक्रांत की एक्टिंग चालू हो गई उसने जिया के करीब पहुंचकर उसके हाथ में हथकड़ी डालते हुए कहा बस बहुत भाग लिया तुमने अब चलो पुलिस स्टेशन जिया अवाक रह गई वो विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी वहाँ मौजूद अन्य लोग भी विक्रांत की तरफ मुड़कर देखने लगे यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के कुछ वेटर भी यहाँ पहुँच गए थे विक्रांत ने अब तक अपने हाथ में पहनी हुई हथकड़ी का दूसरा सिरा जिया के हाथ में डाल दिया और फिर उसे यहाँ से चलने का इशारा करने लगा अब जाकर जिया को विक्रांत का प्लान थोड़ा बहुत समझ आया था अभी ये दोनों यहाँ से जाने के लिए उठ खड़े ही हुए थे कि रेस्टोरेंट के कुछ वेटर भागते हुए उसके पास पहुँच गए उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर आप कौन आईडी विक्रांत ने बिना उसका चेहरा देखे उसकी तरफ अपना आईडी कार्ड करते हुए कहा विक्रांत विक्रांत सक्सेना नाम है मेरा मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ये बहुत बड़े केस में सस्पेक्ट है पुलिस को बहुत दिन से इसकी तलाश थी आज ये पकड़ में आ ही गई है इसके बाद विक्रांत ने उंगली के इशारे से वेटर्स को रास्ते से हटने के लिए कहा और फिर जिया को लेकर वहां से निकलने लगा तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर भागता हुआ वहां पहुंचा उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और टाई भी लगा रखी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा एक मिनट सर आप यहाँ पर इस महीने के तीसरे और इस साल के पच्चीसवें ऐसे आदमी हो जो इस तरह से खाने का बिल चुकाए बिना कस्टमर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो मैं तो परेशान हो गया हूँ अब ऐसा लगता है जैसे शहर के सारे क्रिमिनल यहीं खाना खाने आते हैं और पुलिस भी सिर्फ यहीं आकर उन्हें अरेस्ट करती है चुप करो तुमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रॉबरी केस नहीं सुना है क्या ये ये उसी केस की संदिग्ध है अभी मुझे मेरे मुखबिर ने बताया कि ये यहाँ पर बैठकर खाना खा रही है विक्रांत ने बात बनाने की कोशिश की लेकिन उसके शब्द लड़खड़ाने लगे थे बातों में उतना दम नहीं नजर आ रहा था अरे सर मुझे केस का कुछ नहीं पता ये सब बात करके टाइम क्यों वेस्ट करना आप ऐसा कीजिए इसके खाने का बिल भरवा दीजिए और फिर इसे लेकर जाइए मैनेजर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया विक्रांत का सारा गेम उल्टा पड़ गया उसने मैनेजर को बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा देख लूंगा तुझे बिल कितना हुआ मैनेजर ने तुरंत एक वेटर को इशारा किया वो हाथ में बिल लेकर दूसरे हाथ में कार्ड स्वैप करने की मशीन लेकर पहुंच गया मैनेजर ने बिल वेटर के हाथ से लेकर विक्रांत के हाथ में थमा दिया सात हजार नौ सौ साठ क्या इतना बिल खाने का लूट मचा रखी है क्या ना चाहते हुए भी विक्रांत ने अपने वॉलेट से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और फिर उसने स्वैप मशीन में कार्ड देकर पैसा पे कर दिया तुम्हारे इस रेस्टोरेंट पर बहुत जल्द ताला लटकने वाला है अंधी लूट मचा रखी है आठ हजार का खाना एक आदमी तक सिर्फ विक्रांत बड़बड़ाने लगा फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया अब मैंने इतने पैसे दे दिए हैं तो खाना छोड़कर क्यों जाऊं मैं पूरा खाना खत्म करके जाऊंगा विक्रांत ने सोचा कि जिया ने काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया होगा सो तो क्यों ना पैसा वसूल ही कर लिया जाए लेकिन जैसे विक्रांत की नजर जिया के टेबल पर पड़ी वो दंग रह गया वहां पर सिर्फ एक वाइन की बोतल और कुछ स्टार्टर्स की खाली प्लेट पड़ी हुई थी बस इतने से खाने का आठ हजार रूपए रेस्टोरेंट है या डाकुओं का अड्डा विक्रांत ने वो वाइन थाउजेंड की है उसका प्राइस इतना है मैंने स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाया था जिया ने विक्रांत को बताया विक्रांत उसकी तरफ सवालिया नजर से देखने लगा वो मैं आज आर्यन का क्रेडिट कार्ड लेकर आई थी तो सोचा कि उसी से आज पे करूंगी ये सब खाने के बाद जब मैं पे करने के लिए गई तो पता चला कि उसने अपना कार्ड ब्लॉक करवा रखा है मैं क्या करती फिर हम्म, ठीक है कोई बात नहीं विक्रांत मन महसूस कर आगे बढ़ने लगा अब इसको खोलोगे जिया ने अपने हाथ में लगी हथकड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा अरे हाँ खोलता हूँ विक्रांत ने अपने जेब में हाथ डालकर हथकड़ी की चाबी ढूंढने की कोशिश शुरू की उसने अभी जेब में हाथ डाला ही था कि उसे एहसास हुआ कि वो चाबी पुलिस स्टेशन पर ही भूल आया ओ शिट शिट जिया मैं चाबी तो स्टेशन पर ही भूल गया था अब तुम्हें स्टेशन चलना पड़ेगा दो मिनट लगेगा बस मैं मैं वहां चलकर तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा जिया ने भी अपना सिर पीट लिया विक्रांत और जिया अब एक ही हथकड़ी में बंधे हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकले उसके बाद विक्रांत जिया को लेकर किसी तरह गाड़ी में पहुंचा लेकिन असली मुसीबत यहाँ शुरू हुई दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी विक्रांत को गाड़ी की ड्राइविंग सीट तक पहुंचने के लिए पैसेंजर सीट से होते हुए जाना पड़ा किसी तरह से विक्रांत और जिया गाड़ी में सवार हुए लेकिन तभी जिया ने शर्माते हुए विक्रांत से कहा मुझे मुझे टॉयलेट जाना है